और जिस दिन कयामत कायम होगी मुजरिम कस्में खाएंगे और कहेंगे कि वो एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरे थे इसी तरह वो भटकते रहे